ए नबी हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें तू उनके महर दे चुका है और वो लोंडियां भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी हैं और तेरे चचा की लड़कियां और फुपियों की बेटियां और तेरे मामू की बेटियां और तेरी खालाओं की बेटियां भी जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है और वो बाईमान औरत जो अपना नफ्स नबी को हबाह कर दे ये उस सूरत में कि खुद नबी भी उससे निकाह करना चाहे ये ख़ास तौर पर सिर्फ तेरे लिए ही है और मोमिनों के लिए नहीं हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने उन पर उनकी बीवियों और लोंडियों के बारे में अहकाम मुकर कर रखे हैं ये इसलिए कि तुझ पर हर्ज वाक़ न हो अल्लाह ताला बहुत बख्शने और बड़े रहम वाला है